जब अनुभव होगा तो वैराग्य हो जाएगा अभी जो अनुभव हुआ है वो मरकट वैराग्य संसार की थोड़ी सी जो है ना कहीं कष्ट अनुभव हुआ दुख अनुभव हुआ सामर्थ्य ने जो कहा ना भाष्य कर सामर्थ्य ने त्याग करने के लिए सामर्थ्य ने दुख रूप का अनुभव कहा हुआ कहीं ना कहीं कोई किंचित सुख रूप का अनुभव हो रहा है में घर छोड़ के आत्मा माता सोचता है अरे घर उद्धार तो गृहस्थी तो बबाल है चलो आश्रम में चलते हैं आत्म बल ठीक ठीक रात होगा और आनंद से साधन भजन तपस्या होगी वहां दूसरी बवाल खड़ी रहती है वहां दूसरी माया का चक्कर वहां से निकल के बाहर आता है चलो ये भी ठीक नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे ये स्वतंत्रता में एक और बवाल है यह भी काम धर्म जुगाड़ तो करनी पड़ती शरीर कैसे चलेगा शरीर ऐसी विचित्र है कि दूसरी माए की रचना कर देती है इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है अरे आश्रम में थे तो व्यवस्था थी साबुन तेल सब मिल जाता था नहीं अब वो छोड़ आए और वो भी उससे भी रह गए नहीं अब यहाँ साबुन तेल के चल भंडारा भागना पड़ता दक्षिणा इकट्ठे करने पड़ते कितनी दुर्दशा हो जाती नहीं कहीं भी जा रहा है वो एक द्रव्य चक्र से दूसरे चक्कर दूसरे से तीसरे चक्कर पड़ रहा है एक छोटा गड्ढा है वहां से दूसरा उठा आ उससे छोटा वो होगा सोचा वहां तो और बड़ा गड्ढा पड़ मुश्किल से वहां से निकलता है जो गुरु का पन्ने से निकला बड़ा कठिन काम होता है घर गृहस्थी का पन्ने से कट के निकल जाना बड़ा आसान है और गुरु आश्रम के बंधन से निकलना बहुत कठिन काम हो जाता है देती वो तो टेम्पोररी था आप देखिए बीस बाईस साल पच्चीस साल घर में बिता देते हैं वहां से गुरु आश्रम आए गुरु आश्रम एक दो साल भी नहीं रहते हैं लेकिन वो एक दो साल आप ऐसे खेच देता है अटैच कर देता है तो उसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कारण क्या है आप संसार में वह बीस पच्चीस साल घर घर से बिताए हो भले ही लेकिन वह आपकी आस्था श्रद्धा बचपन से नहीं थी ठीक है माँ बाप है बचपन से खेल रहे कूद रहे लात मारे गाली दे रहे काम तुम चल रहा है अब चलते हैं लेकिन आपको किसी के प्रति भी वहां पर आपकी हृदय पूर्ण श्रद्धा और आस्था टिकी नहीं है और टिकती है गुरु आश्रम में जिस आश्रम में जब वहां टिकती जैसे आजकल के आदमियों को जैसे एक नई पत्नी आ जाती उसमें टिक जाती है सारी श्रद्धा सारी आस्था उसी की तरफ नहीं आ गई ना जीवन में विस्तर से वहां घर देते छोड़ा एक नई चीज जीवन में आ गई क्या गुरु जी और उसमें भी आध्यात्मिकता के कारण से श्रद्धा भक्ति आस्था परिपूर्ण हो जाता है पर वो एक साल ही रह जाए वो जिंदगी भर के लिए संबंध तो नहीं पाता है छोटे गड्ढे से बड़े गड्ढे में गए कि नहीं गए बहुत बड़ा गड्ढे में घुस गए और उस बड़े गड्ढे से निकल नहीं जाए स्वतंत्रता नाम की उससे भी महान गड्ढे के अंदर फंस जाते हैं कि स्वतंत्रता स्वरूप में है किसी आश्रम को छोड़ने में या घर को छोड़ने में नहीं है इसको समझ नहीं पाते और स्वतंत्रता का चक्कर में महान गड्ढे में ऐसे फंस जाता है माया जाल में न घर का न घाट का हो जाता है इसलिए संसार को जब त्यागना है तो संसार को पूर्ण रूप में समझना पड़ेगा इसलिए शास्त्र में सबसे पहले कदा अपराविद्या पर विद्या विषय प्रश्नार्थम मार्ग कदम तद दर्शन ही तन निर्वेद उपपत्ति है क्योंकि उसका दर्शन होने पर ही वो संसार से निर्वेद मैंने वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है और अपूर्ण वैराग्य जब तक है इसलिए वैराग्य के भी कई कोटि वर्णन कर दिया योग सत्रकार ने पर वैराग्य अपर वैराग्य अपर वैराग्य विचार अवस्थाएं इसलिए वर्णन किया गया है कदे तथा चवक्ष क्योंकि इस बारे में बाद में मंत्र भी कह रहा परिचय लोकान कर्मचार निर्वेदन माया नास्तिक कृतक कृणा इस अपने कर्मों के द्वारा कर्म फल भोगार्थ रूपे प्राप्त संसार को परीक्षण करके देखता है जब इसी अनित्यता और मिथ्यात्व निर्णय करने के पश्चात ही वह वैरागी को प्राप्त करेगा और जो एक ही मुख्य तर्क होता है इसको सिद्ध कर लेने में नास्ती अकृत न वह अकृत स्वरूप जो नित्य स्वरूप आत्मा है ब्रह्म है स्वरूप है वह कृत कर्म कार्य के द्वारा प्राप्त हो नहीं सकता यह दृढ़ तर्क को लेकर के समस्त संसार कृत होने के नाते यह अकृत को प्राप्त नहीं कर सकता है इसे कृतात्मक संसार को त्यागूंगा जब तब मैं अपने अकृत स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय बिना इन लोग कर्म चित लोगों की परीक्षा किए हो नहीं इसलिए इसे कहते कि भाई नहीं प्रदर्शित है परीक्षा उपपद्यता है बिना दर्शन परीक्षा कैसे करूंगा प्रदर्शित वस्तु की ही फिर परीक्षा हो सकती पहले दिखाओ चीज को फिर उसकी परीक्षा होगी दिखाया ही नहीं चीज हया नहीं यही मालूम नहीं नाम मात्र लेकर के आपने कथन कर दो उसकी परीक्षा कसौती लो ये हो नहीं सकता है किसी भी चीज की परीक्षण करना तो वस्तु सामने नहीं चलना आप कह दो फोन पे भाई हमारी अंगूठी की परीक्षण कर देना कितना सोना परफेक्ट है अरे तेरी अंगूठी तो तेरी अंगुली में है अब फोन पे दुकानदार को कहने से दुकानदार आपकी अंगूठी का सोना का बता देगा क्या नकली है कि असली है अरे अंगूठी ले जाके दुकान में देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा बिना अंगूठी को उसके हाथ में दिए सोनार के वो सोनार कैसे परीक्षण करेगा गोल्ड परीक्षण तभी हो अरे देख के बता दो अरे देख के कैसे कोई बता दे सुन के देख के नहीं बता परीक्षण किया करने के लिए वस्तु का समय प्रदर्शन जरूरी है इसलिए कहते हैं प्रदर्शित ही परीक्षा उपपदित है अप्रदर्शित नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उपपदित है इति आह तदे तो सत्यम अवितम इति इसी बात को आरंभ करते हुए कहते हैं मंत्र में भी तदेत सत्यम मंत्रेशु कर्माणी कवयो यान्यपश्यन् स्थानि त्रेतायाम् बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतम् सत्यकामाः एष वः पन्थः सुकृतस्य लोके तदेतत् सत्यम् और यह जो संसार है यह भी व्यावहारिक सत्यता को लेकर के विराजमान है मंत्रेश और मंत्र विद्यमान जो कर्माणी तदेत मंत्रेश मन ऋग्वेद आदि वेदेश यानी कर्माणी विद्यंते तानी सर्वाणी सत्यम में होंगी वे सबको पहले कहा जाता है वह सत्य है इसलिए ही कवियों यानी क्वेश्चन इसलिए कवियों ने वशिष्ठ ऋषि लोग जिन कर्मों को इन वेदों में देखा था अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि उन कर्मों को तानी त्रेतायाम बहुधा संतानी उनको त्रेता में बहुत प्रकार से सम्यक प्रकार से विस्तार रूपेण अनुष्ठान करके निष्पादन किया त्रेता मन या त्रेता युग नहीं लेना त्रेता से तीन चीज होता है आधार कर्म का एक तो अध्वर्यु मुख्य है दूसरा होता तीसरा उद्गाता इसलिए हाथ धरे कांड रूपी एक हौत्र कांड रूपी दूसरा और औदगात्र कांड रूपी तीसरा तत्व कांडो में प्रदत्त और विहित निषिद्ध कर्मों को हम कहते हैं औदगात्र कर्म हौत्र कर्म और आत्पर्य कर्म इन्हीं तीन प्रकार के कर्मों को यहाँ प्रेतायाम तीन प्रकार के कर्मों में प्रतिष्ठित होकर के बहुत प्रकार उनका विस्तार किया ऋषियों ने तानी आचरता हे शिष्या हो शिष्या पानी आचरता इसलिए हे शिष्यगण आप भी उन सकल कर्मों को आचरण करें कैसे करें अभी नियतम आचरण नियमित रूप से नित्य नैमित्य कार्य कर्मों का समय प्रकार से आप अनुष्ठान करें कैसे अनुष्ठान करना है सत्य कामा संता आचरण यथार्थ कर्मफल है ऐसा मान करके यथार्थ क्योंकि कर्मफल दो प्रकार के है ना यथार्थ भी है यथार्थ भी है इसलिए आपने देखा था अर्थ संग्रह में धर्म का रक्षण करते हुए लिखा गया था वहां वेद प्रतिवाद प्रयोजनवद हो अर्थ शब्द क्यों गया अनर्थ के शनि आगाज अतिव्याप्ति वारणाय अर्थे थी ये लिखा है अनर्थ वाले में ना अनर्थ में अयथार्थ प्रदान करने वाला अयथार्थ होता लोक है ऐसे लोग को रूपी फल देने वाले वो अयथार्थ कर्म फल को त्याग करके यथार्थ कर्म फल की कामना करते हुए सत्य का तात्पर्य यथार्थ अर्थवान फल अनर्थवान फल नहीं अर्थवान फल की कामना करते हुए आप नियमित रूप से सकल कर्मों का आचरण करते रहे क्यों करो जी कदेश पंथा बस यही आप लोगों के लिए असली मार्ग है किसको पाने के लिए सुकृत से लोग अपने सुकृत कर्मों का फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्वर्गाज लोकों को प्राप्त करने का यही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट मार्ग है बता दिया ना लोगों को प्राप्त करने का मोक्ष को प्राप्त करने का नहीं लोगों को प्राप्त करने के लिए यही आप लोगों के लिए विहित दर्श प्रदर्शित एक विशिष्ट सुंदर मार्ग है भाषी में जाइए तदेता सत्यम सत्यम ने अवितथम सत्यम का क्या कर दिया अवितथम किम तत् क्या है वो अवितथ मंत्रेश मंत्रेशु ऋग्वेद आदि आखेश ऋग्वेद आदि नाम से जो प्रसिद्ध कर्म ग्रंथ है शास्त्र है उनमें जो कर्माणी अग्निहोत्रादिनी कर्म क्या है अग्निहोत्रादि मंत्रे प्रकाशितानी मंत्रों के द्वारा ही प्रकाशित ये क्या है ये अवित ये सत्य कविया मेधावी वशिष्ठार्य यानी दृष्टवंत मेधावी लोग जिनको देखा था जिन कर्मों को देखा था मेधावी से वशिष्ठावी को लेना जिन लोगों ने जिन कर्मों को अनुभव किए थे देखे थे यद तदेत सत्यम वह यह जो कर्म है वह निश्चित सत्य एकांत पुरुषार्थ साधन किंतु अव्यभिचरित फल प्रदान करने वाले साधन होने के नाते पुरुषार्थ का साधन धर्म अर्थ का मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थों में से धर्म अर्थ और काम ये त्रिविध पुरुषार्थ का परमोत्कृष्ट साधन है तानी च वेद विहिता ऋषि दृष्टानी कर्माणी उन जो वेद विहित ऋषि दृष्ट उन कर्मों को त्रेदायाम त्रय संयोग लक्षणायाम है हमने तीन प्रकार के वस्तुओं का संयोग तीन अवय से हाँ? है ना अयच प्रत्यय हुआ मैंने अवय परक अवय कौन है यहाँ तीन जो है विशिष्ट कर्म कर्तृत्व को लेकर व्यवहार हो रहा है तो जो तीन प्रकार के अग्नि का संयोग या तीन प्रकार के कर्ताओं का संयोग या तीन प्रकार से वेद विहित संयोग को लेकर के रोका हौत आध्वर्य प्रकार आयाम अधिकरण भूताया जो कि हौत्र आध्रव और औदगात यही तीन है प्रकार जिनका ऐसे जो अधिकरण भूता शास्त्रों में भी उनको बहुधा बहु प्रकार संतता प्रवृत्ता कर्म भी क्रियमाणानी बहुत प्रकार से निरंतर प्रवृत्त कर दिया गया कर्मियों के द्वारा किए गए हैं त्रेताया युग अतः वैकल वो भी अर्घ ले लो हमें कोई आपत्ति नहीं है त्रेताया हुआ युगे प्रायश प्रवर्तानी अन्य युगों में होते हैं कम लेकिन वहाँ अधिक अतो यूयम दान आचरत निर्वर्त इस आप लोग भी इसका आचरण करें सिद्ध इसके स्वरूप को सिद्ध कर रहे नियतम नित्यम नित्य करें सत्य का यथा यथाभूत कर्म फल का यथाभूत अर्थ कर्म फल की कामना करते हुए यथाभूत कर्म फल की आकांक्षा करते हुए नहीं यथाभूत कर्म फल की आकांक्षा करते हुए आप अनुष्ठान करें शो मनीष्मा कम पंथा मार्ग यही आप लोगों का मार्ग है सुकृत स्वयं निर्वर्णित स्वयं के द्वारा निष्पादित उन कर्मो कर्मणो लोके फल निमित्तम लोक्य दृश्य भुजते कर्मफलम लोक उच्चते लोक का मतलब जो कुछ फल स्वरूप है यानी कि स्वर्ग ही लोक को लेना इतना ही नहीं इस लोक में भी जो सुख मिल रहा है सबको लोक शब्द ही कहा जाएगा जो कुछ भी फल निमित्तम लोक्य दे दृश्य दे भुज्य दे जो कुछ भी आप जो उपभोग करते हैं उन सारे कर्मफल को लोकाशम से कह दिया तदर्थम तत्प्राप्त तो तत्प्राप्तार्श फल प्राप्ति करने के लिए एश मार्ग तीर्थ यही मार्ग है इसलिए उन्हीं कर्मों को करें जिससे इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में भी किसी प्रकार के दुख का भोग न हो सदा ही सुख का ही भोग प्राप्त होते रहे ऐसा जो है विलक्षण कर्मों को ही करनी चाहिए चाहे स्वर्ग आदि जाए चाहे इस लोक में रहे कहीं भी रहे लेकिन हमेशा सुखानुरूप ही कर्म करते रहे यानी एतानी अग्निहोत्रादि त्रिया विहितानी कर्माणी जो अग्निहोत्रादि तीनों वेदों में श्रुतियों में वेद कर्म है तानी ये पंथा वे जो है यह मार्ग है अवश्य फल प्राप्ति साधन अवश्य फल प्राप्ति का साधन वस्तु है बाकी अशास्त्रीय कर्मों का तो कोई भरोसा नहीं अब फल देगा या नहीं देगा यह विपरीत देगा देर नहीं दे इससे कोई परेशानी नहीं विपरीत दे दे वो बड़ा कर बड़ा जैसे अशास्त्रीय जो है शास्त्र में अविहित कर्मों या अशास्त्रीय कर्मों को करते हैं उसे क्या होता है यदि शास्त्र में अविहित कर्म यदि कर दिया या शास्त्र में निश्चित कर्मों को कर दिया आपने तो उसका तो निश्चित कर्मों का तो निश्चय है लेकिन शास्त्र में जो अविहित कर्म उन कर्मों को करने का तो कोई फल का पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा विधान तो है नहीं ना उनका सार्थक फल या अनर्थक फल किसी भी प्रकार का भी कथन नहीं हुआ ऐसे कर्मों के जो अनुष्ठान करते हैं तो इस शास्त्र में और है थे भी कह सकते हैं आप सस्वर का सर्वान लेकिन वो जो सूत्र लागू होता है शास्त्रीय कर्मों में जहाँ फल नहीं है जब सांग कर्म का विधि हो गया किंतु तो कर्म फल स्वरूप नहीं है उसी स्थिति में उसको लेना है हमें ये नहीं उसमें सब जगह लौकिक कर्मों में लगा फिर तो लौकिक कर्मों से स्वर मिलने लग जाएगा जो कि अत्यंत अशास्त्रीय कर्म है शास्त्र अवहित कर्म है उन लौकिक कर्मों का भी फिर स्वर हो जाएगा फिर कौन संध्या पूजा पाठ करे खूब क्रिकेट खेलेगा तो भी स्वर मिल जाएगा उसको ऐसा तो नहीं होगा ना तो इसीलिए वो वो नियम सर्वत्र नहीं लागू कर देने को वो तो जहाँ सांग कर्म विहित हो और फल कथन नहीं है उस स्थल के लिए कहा गया सर्ग सर्वांत के विशिष्टत्वात इसलिए शास्त्रों में अत्यंत अविहित कर्म है उपलक्षित कर्म भी नहीं है ऐसे कर्मों को करने वाले पुरुष का तो कोई भरोसा नहीं क्या होगा फल देता है या नहीं देता है इसका डर से भी ज्यादा डर है यदि विपरीत दे देगा तो क्या होगा और देता विपरीत ही है ज्यादा जितने भी आप लौकिक कर्म करके देखे हैं और देख रहे हैं संसार में लोग लौकिक कर्म ही ज्यादा कर रहे हैं शास्त्रीय कर्म तो कोई कर ही नहीं रहा है आज के जमाने में कितना कर रहे हैं शास्त्रीय कर्म को 24 घंटे में से यदि मान लो कम से कम छह घंटा सोता और अट्ठारह घंटा रह गया वो अठारह घंटे के जागृत अवस्था में वह शास्त्र विहित कर्मों को आमतौर पर विचार करके देखा जाए तो पांच मिनट भी नहीं कर रहा है अठारह घंटे कि शौच भी करता है करते तो सभी है इन्हों भी अविहित ढंग से ही कर रहा है पशुवत कर रहा है खाना खाता है पशुवत कर रहा है पानी पीता है पशुवत पी रहा है पानी पीने की तरीका भी मालूम नहीं है हाँ हगने की तरीका मालूम नहीं मुंह धोने की तरीका मालूम नहीं किसी के विधि विधान के अंदर कहा कर रहा है कोई का नहीं पता सभी कर रहे हैं इन कर्मों को लेकिन कैसे करना इन चीजों को पता नहीं पता है क्या अच्छा मुंह धो लेते हो कहीं से बाहर से आ गए मुंह धो दिया आपने ठीक है मुंह तो धो दिए लेकिन आपने गलत किया धोना आप जानते नहीं कैसे धोते है? आप कहोगे नल खोलता हूँ यू करता हूँ ये सब गलत है सबसे पहले नियम यह होता है मुंह धोने के लिए मुंह में पानी होनी चाहिए मुंह में पानी भरो पहले पीना नहीं मुंह में पानी रख करके चेहरे को धोना चाहिए शास्त्र विधि है इसका वैज्ञानिक तरीका कारण क्या है यदि आपने बिना मुंह में पानी रखे हुए सीधे मुंह धो दिए सारे चेहरे का गर्मी सब झट से अंदर चला जाता है वह जो चेहरे का गर्मी जो अंदर गया वह आपके दांतों को जीवा को सारी चीजों को गला को कान को नाक को सबको खराब कर देता है ये आदमी समझदार क्यों ये विधान किया वो एक मिनट बचाना है ना पानी मुंह में डालना पड़ेगा वो टाइम बचे फिर बाहर थूकना पड़ेगा वो बचाने के चक्कर में क्या करता है सीधे ही धो देता है सब शॉर्टकट करता है और शॉर्टकट अविधि है एक तरीके से कर रहा है शौच के लिए बैठना ये देखता ही नहीं कैसे बैठना किस दिशा की ओर मुख करना है कौन से मंत्र को ध्यान में लाना है किस देवता को स्मरण करना है कुछ पता गया बैठा किसी भी दिशा में खोल दिया छुट्टी हो गई पेशाब भी कर रहे हैं वो भी नहीं देखते हर चीज में विधिया है और वो विधि इसलिए है क्योंकि आपका यह पांच भौतिक शरीर समय प्रकार से संचलित हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति इन सामान्य कर्मों के द्वारा भी हो यदि सारी क्रियाकलाप हमें चाहे न चाहे करना तो ही है लेकिन इसमें ही यदि थोड़ा उस शास्त्र के विधान के अनुसार यदि हम चल देते हैं ये अंत कर्ण शुद्ध बहुत बड़ा लाभ देने वाला हो जाता है यह सब कौन देख रहा है इसलिए यहां पर कहते कि देखो जो भी आपको कर्म करना है शास्त्र की विधि के अनुसार कर रहे अच्छा जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब शास्त्र अभी तो ही कर रहे हैं अतएव किस प्रकार का फल मिलेगा भविष्य में क्या दुर्गति होगी इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है इसे इनका कहना है कि देखो ये जो कर्म विहित है यही आपके लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है क्योंकि अवश्य फल प्राप्ति के साथ है ये ध्यान रखना है और जब हवन भी करते हैं तो कब करना है भूख लगी ना लगी माल अच्छी दिखाई दे खा लिया नहीं ऐसा नहीं यदा लीला यदि समित देह विवाहने तदा आज भागावंतरेण आहुति प्रतिपादये यदा लीलायति ही समितेह समित देह विवाहने जब इसकी अर्चिया अर्थात की जीवाएं अग्नि की जीवाएं लीलायमान हो अर्थात अत्यंत प्रज्वलित होकर धड़धड़ाता हो बाह्य अग्नि में जैसे देखते हैं उसी प्रकार से आपके आंतरिक अग्नि भी धगधगाते हुए होनी चाहिए पूर्ण भूख होनी चाहिए तभी प्राणाग्निहोत्र संभव है और सभी पहला एक कौली दाएं तरफ से चबाते हुए दूसरी कौली बाएं तरफ से चबाते हुए अंत में दाल में जितना भी है बीच में से डालो इधर से सब तरफ चबाते हुए खाओ सो यहाँ पर पहला मंत्र आता है अग्नि स्वाहा दूसरे में सोमाय स्वाहा वहां पर भी क्या आप एक ही कुंड में आपने देखे होंगे कभी हवन कहीं करते कराते हुए अब क्या होता पहले उत्तर दिशा फिर दक्षिण दिशा में डाला जाता है उसके बाद बीच में जो आवाप स्थान है वहां पर संपूर्ण हवन होता है इसी तरह इस प्राणायाम में भी इसलिए हम खाना भी नहीं जानते ये खाना जानो तो ऐसे खाना पड़ेगा पहले ये देखो भूख सही से जगिए कि नहीं नहीं जगिए तो जगाओ अग्निसार क्रिया को अपनाओ विभिन्न क्रियाएं बताई गई है उन क्रियाओं के अग्नि को जगाइए समय प्रकार से वो दीप्त कर दीजिए फिर उत्तराहुति दक्षिणाहुति जो लो आज्य भाग जिसको कहा जाता है उन आज आहुतियों को देना है घी की आहुति नहीं आज्य भाग नाम है उनका वह बाह्य में घी से डाला जाता है तीसरा आज्य भाग नाम हो गया और यहाँ पर जब डालेंगे अन्न को ही डाला जाएगा घी से संपृक्त अन्न को ही डालना है इसे चावल दाल रोटी जो भी हम हैं थोड़ा सा घी डालना एक बूंद तो कम से कम डालो ये देखने से नहीं चलेगा घी को अरे साल भर हो गया घी एक किलो वैसे का वैसे क्यों पहले रोज देखता हूँ उसको और एनिमेश आनंद जी जैसे है दो साल तक एक किलो घी चले गए तो बीमार हो जाते हैं ज्यादा और जो देखेंगे दम के खत से डटा देंगे ऐसे थोड़े चलो एक बूंदी डालो शुद्धिकरण के नाम से डालो और तार ही संप्रत अन्न से ही आहुति करना है ये तदा आज्य भागवंत और आज्य भाग के बीच में आहुति प्रतिपादित आहुतियों को प्रदान करनी चाहिए तत्र अग्निहोत्र प्रथम प्रदर्शनार्थम उचित है सबसे पहले अग्निहोत्र क्योंकि अनेक प्रकार के अग्निहोत्र है ना गर्भाग्निहोत्र भी है प्राणाग्निहोत्र भी है प्रेताग्निहोत्र भी है नित्याग्निहोत्र भी है माताग्निहोत्र भी अनेक प्रकार का आधारभूत अग्निहोत्र है जो तो जीवन उसके बिना अच्छा होता ही नहीं क्योंकि जीवन ही एक अग्निहोत्र जीवन को ही सोमयाग के वर्णन कर दिया है सायन से संपन्न या सोमयाग के समान सोमयाग है ये सारे जीवन एक अग्निहोत्र पर आधारित है इस अग्निहोत्र प्रथम कर्म है जिस पर सारा संसार चलता है जीवित रहता है अतएव सबसे पहले अग्निहोत्र कर्म का कथन कर रहे हैं तत्र अग्निहोत्र में प्रथम दर्शनार्थम उच्चते सर्वकरणा कर्म नाम प्राथम्या सकल कर्मों में प्रथम आप सोते रहते हैं तब भी प्राणाग्निहोत्र चलते रहता है ये श्वास जो चलता है वो जीवन चल रहा है इसलिए इसको जीवन योनि प्रयत्न का एक लोगों ने त्रिविध प्रयत्नों का नाम लेते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदात कहा जीवन के कारण वो तो एक प्रयत्न विशेष चल रहा है एकदार प्रयत्न विशेष जो चलता है यह भी अग्निहोत्र कर्म स्वरूप ही है दो आहुति निरंतर चल रहा है डाल रहे निकाल रहे फिर डाल रहे फिर निकाल रहे ये जो चक्कर चलता है ये अभी एक अग्निहोत्र ही है इसलिए कहते कि देखो प्रथम यही है सकल कर्मों का आधार तत्व तत्कथम यदैव इस समय गिद्धे समिद्ध हव्य वाहने लीलायत चलती अर्ची कला जब इंधनों के द्वारा सम्यक प्रकार अभ्याहित ईंधन है वो समय प्रकार युद्ध है प्रज्वलित है समिद उसको कहा जाता है कौन वाहन अग्नि लेलाय दे मैंने चलती अर्ची ही उसकी अर्चा दगदगाते हुए दिखाई देनी चाहिए तदा कस्मिन काले लेलाये मारे काले चलती अर्चिशी काले आज भागो आज भागे और अंतरेण मध्य आवापस्ताने आहुति प्रतिपादित उस समय में उस चलती हुई अर्चियों में आज भाग जहाँ आपने डाला था उन दोनों का बीच का जो स्थान है जिसका नाम आवाप स्थान हुआ करता है उस स्थान में आहुति ही प्रतिबाधे प्रक्षेप देवता उद्देश्य देवताओं को उद्देश्य करके आहुतियों का प्रक्षेप करनी चाहिए अनेक प्रयोग अपेक्षा आहुति बहुवचन या आहुति ही वाला बहुवचन द्वितीय का बहुवचन अरे अनेकाक प्रयोगों को दृष्टिकोण से रख करके करें नहीं तो अग्निहोत्र में तो केवल दो आहुति सुबह दो आहुति शाम होते हैं मैंने एक बार के अग्निहोत्र में दो ही आहुति होता है तीसरा तो है ही नहीं फिर आपने कैसे कर दिया बहुवचन तब शंका जवाब दिया अरे का प्रयोग का अधिष्ठान भूत अग्निहोत्र को अपेक्षा करते हुए यहाँ पर बहुवचन प्रयोग हुआ है एश पक्षे पर लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्त अंधा बस इस प्रकार से सम्यक आहुति का प्रक्षेपादि रूप जो कर्म का मार्ग है यही मार्ग लोक प्राप्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है कस जो समय कर्णम दुष्कर्म इसका समय प्रकार से करना बहुत कठिन है इन कर्मों को लौकिक कर्मों को भी हम नहीं कर पा रहे शास्त्रीय कर्मों का समय कहा करें जब लौकिक कर्म है उठना सोना किस तरह से उठना ये पता नहीं है बुलाया फिर उठ के खड़ा हो गया सीधे अरे भाई देखो तुम्हारी श्वास कौन सी चल रही है कौन सी पैर को जिनके पहले रखना है जिन पहले रखने से पहले तुम क्या ना, नाम लोगे करो कर वंदना करो है फिर पृथ्वी वंदना करो प्रार्थना करो फिर जाके होते काम कौन किसको टाइम है सोच नहीं देता सीधे उठ जाते ये पता ही नहीं दाना पैर पहले रखने बाया पैर पहले रखना कौन सा रखना कहा रखे ये तो जानना चाहिए कैसे रखे उसका विधि जानो कुछ सीधे ही सब काम हो जाते इसे सोने से जगने से मरने से कोई भी कर्म हम लोगों का जैसा प्रकाश हो नहीं सकता है फिर वो शास्त्रीय कर्मों को कौन सा प्रकाश कर सकता एकदर्श विवेक करने के लिए ही इन मंत्रों को कहा जा रहा है यदा लीलायते ही अर्चि समिद्यवाहने तदा आज भागावंत्रेण आहुति ही प्रतिपादित इसका विचार तो हुआ तो थोड़ा उतना ही वहां पर टीका में है अनेकेश हस्व प्रयोग अनुष्ठान तदपेक्षा करता नीचे भी कहते अवापस्तान स्थाने हवि प्रक्षेपा धारे आहवनीय करता कहने का तात्पर्य आहवनी अग्नि में चैत्र विशेष था स्वाहा प्रजापति स्वाहा सायकाल में सुबह में सूर्य स्वाहा प्रजापति स्वाहा होता दो ही आहुति होती अग्निहोत्र के आपने आहुति इत्यादि भोजन कैसे प्रयोग कर दिया तब वहां पर तो अनेक प्रयोग अपेक्षा अनेक दिनों में होने वाला जो ये अग्निहोत्र एक दिन करके छोड़ते थोड़े तो एक बार करके अनेकों दिन किए ही जाते हैं इसलिए यहाँ पर बहुचल प्रयोग हुआ है यग्निहोत्र अदर्श पौर्णमासम अचातुर्माश्यमनाग्रहण अतिथिवर्जित अहुतम वैश्वेव विधिनाहुतम आसप्रमाण लोकान ही प्रम जिस व्यक्ति के अग्निहोत्र किस प्रकार से किया जा रहा है कि उसका अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री का जो अग्निहोत्र है वह तो दर्श रहित है आदर्शम अपौर्णमासम अचाग्रवास्यम दर्श वर्णमाशेष्टि से रहित केवल अग्निहोत्र कर रहा है व्यक्ति चातुर्मासी अस्थि से रहित होकर केवल अग्निहोत्र करता है ऐसी अग्निहोत्री अनाग्रहणम और शरद ऋतु एवं वसंत ऋतु इन दो ऋतुओं में जब नया फसल कटा हुआ होता है उस समय से नवान्य स्थिति को कहते आग्रायणम उस, उसको जो आचरण नहीं करता केवल अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है ऐसी अग्निहोत्री अतिथि वर्जित और इन कर्मों से रहित इतना ही नहीं बल्कि नित्य जो अतिथि पूजन आदि होना चाहिए वह भी करता नहीं है और अपने आप केवल अग्निहोत्र करता हुआ रहने वाला अग्निहोत्री है ऐसा व्यक्ति भी सही उचित कोटि का कर्मी नहीं माना जाएगा यदि भी शौच कर्म कर रहा है वो फिर भी वो कर्मी नहीं है और जो शास्त्रीय ढंग से अग्निहोत्र भी नहीं करता आहुतम कहते आहुतम कर तो रहा है लेकिन जिस समय जिस देश में जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा यथा विधि अहूतम पहले विधिवत हवन किया किंतु दर्श परमाशा भी नहीं किया ऐसा अग्निहोत्री दूसरे में अग्निहोत्र तो कर रहा है लेकिन अविधि पूर्वक अग्निहोत्र कर रहा है और अविधि दर्शनाशा सब कुछ भी कर ले रहा हो तो भी वह भी अपने आप का नाश करता है और अन्यों को विनाश कर लेता है तीसरे कोटि में अवैश्वदेवम अविनाहुतम अवैश्वेवम और वैष्णदेव बलि आदि नित्य बलिया है इनको भी नहीं देता आविधि ना और आविधि पूर्वक जो हवन कर देता है आविधि पूर्वक जो हवन किया जाता है पहले वाला यथासमय किए जाने वाले अग्निहोत्र आदि और बलि वैश्वेव आदि से रहित है वो समय देश आदि को वो क्या कर रहा है व्यतिक्रम कर रहा है बाकी विधियों का पालन कर रहा है और ये तीसरा वाला ऐसा नहीं है तो विधि पूर्वक करता ही नहीं किसी भी बात को विधि पूर्वक नहीं कर रहा है किंचित तो अभी विधि के अनुसरण नहीं है ऐसा जो किया वो अग्निहोत्र आदि भी निरर्थक है आज सप्तमांश तस्य लोकान तस्य उस व्यक्ति के आज सप्ताह लोकान हिनस्ती उस कर्ता के साथ दो अर्थ लिया गया है सप्तमान सप्तमान लोकान का एक तो उसके लिए सातों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलेगी सातों लोकों के से भी निम्न लोकों में उसकी गति होगी ऐसे कर्मी का स्वर्ग नहीं मिलेगा कोई लोक नहीं है उसके लिए जो सप्त लोग प्रसिद्ध है पूर्व स्व इत्यादि ये सप्त प्रसिद्ध लोग को उसको प्राप्त नहीं होगा इसके वजह जो आधो लोग है अगल सुगल पाताल पर्यंत और सप्त नरक उन्हीं में ही हो जाएगा वो कर्म केवल ऐसा जो कर्मी होता है अथवा सात पीढ़ी अपने से पूर्व तीन पिता दादा पर दादा और अपने से आगे का तीन पुत्र पौत्र प्रपौत्र और स्वयं तीन इधर तीन उधर स्वयं एक सात पीढ़ी को नाश कर लेता है ऐसा व्यक्ति मैंने ये सब इसलिए वर्णन किया जा रहा है कर्म करना कितना कठिन है और करने पर भी यदि इस प्रकार से गड़बड़ा जाए तो भी नुकसान है समय पर कर भी जाओगे तो भी क्या होगा अगले मंत्र बताए अतव कर्म से वैराग्य को प्राप्त करना है नहीं तो अपराविद्या में फंसे रहेंगे तो ये कर्म का जाल से हम छुट नहीं पाएंगे और कर्म जाल ऐसा है तो उसका स्वरूप का वर्णन बता रहे कथम कथम उसी का प्रश्न पूछा किस प्रकार से आप कह देते हो कि ये बड़ा कठिन ही करना तो ये कैसे आपने कहा कि पूर्व में भाषकर ने आयुर्वेद लक्षण कर्म मार्ग लोक प्राप्ति पंथा तो जो, समय कर्म दुष्कर्म ये बोले थे ना उसी पर आप स्वयं डालते कथम दुष्कर्म क्यों दुष्कर है क्योंकि ये समस्या खड़ी हो जाती है क्या अरे अग्निहोत्र लो अग्निहोत्र जो अग्निहोत्री है उसका अग्निहोत्र कभी तो आदर्शम अदर्शम दर्शाख्यन कर्मणावर्जितम दर्श नाम कर्म से वर्जित हो जाता है नियम तो धारण कर लिया कि मैं करूंगा क्या गए और उसी समय घर में कोई मर गया या साहू चाचा को कोई मर गया सूतक आ गया मृतक आ गया दोष तो क्या करेगा वैसे निकल गई कर नहीं सकता और प्रायश्चित करो उसके लिए उसे कुछ गड़बड़ाए उसके लिए प्रायश्चित कहा चलेगा काम इसीलिए कहते आदर्श वाले हो जाते जितने अग्निहोत्री है अंत तो ऐसी स्थिति बन जाती है वह व्यक्ति कहीं न कहीं दर्श के अभाव वाला हो जाता है अथवा अग्निहोत्र अवश्य कर्तव्य दर्श से क्योंकि जो अग्निहोत्री के लिए तो दर्श अवश्य कर्तव्य है और वो छूट गया तो दोष हो गया अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण इव भवती तद अक्रियमाण चिंता अग्निहोत्र संबंधी जो अग्निहोत्र है जैसे अग्निहोत्री का संबंधी अग्निहोत्र जिसके जो अग्निहोत्र याग को करता है उसी का नाम ना अग्निहोत्री होगा जैसा पहा का संबंधी पुरुष को पाचका ऐसे अग्निहोत्र संबंधी पुरुष को अग्निहोत्री लेकिन विशेषता ये है अग्निहोत्री केवल अग्निहोत्र का संबंध नहीं होगा उसे दर्श भी करना पड़ेगा पूर्णमास भी करना पड़ेगा तब नाम अग्निहोत्री होगा केवल अग्निहोत्री का संबंध मात्र से व्यक्ति का नाम अग्निहोत्री नहीं होता वही बता रहे अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण एवं भवती क्योंकि ये दर्श याद कैसा है ये भी अग्निहोत्र का संबंधी है जिस प्रकार अग्निहोत्र विशेषण रूपेण अग्निहोत्री को ज्ञापन कराता है ठीक उसी प्रकार से याग भी अग्निहोत्री का विशेषण कोटि के अंतर्गत है इसलिए कहते हैं ये दर्श ना अग्निहोत्र अवश्य कर्तव्य तो से कथम अवश्य कर्तव्य तो तो जवाब दिया वो अवश्य इसलिए करते हुए है क्योंकि जिस प्रकार से अग्निहोत्र का संबंधी होने के लिए अग्निहोत्र में विशेषण को आप स्वीकार करते हो ठीक उसी प्रकार से दर्श को स्वीकार करना पड़ेगा और यदि वह अग्निहोत्र अपने आप को मान रहा है और अब तक अक्रिय मारम यदि वो दर्श को नहीं करता है वो अग्निहोत्र ही नहीं रह जाता वो अकर्मी कोटि में चला जाएगा अग्निहोत्र करते हुए भी दर्श करना करने के कारण से एक विशेषण का अभाव हो गया तो वो अकर्मी कोटि में चला गया तथा ठीक उसी प्रकार से अपौर्ण में इत्यादि शोपी अग्निहोत्र विशेषणता दृष्टव्यम अग्निहोत्र के समान ये जैसा अग्निहोत्र अग्निहोत्र शब्द विशेषण कोटि में रहता है उसी प्रकार से पौर्णमास को मास को आग्रहण को अतिथि वर्जित को वैश्वदेव को भी समझ लेना ये भी सब विशेषण ये सब उसके लिए न्यूनतम अवश्य कर्तव्य कर्म है न्यूनतम इतने तो करनी ही है जान जाए मर जाए मरने तो, तो करना ही पड़ेगा यावत अग्नि को अपने पुत्र को समर्पित नहीं कर देता तावत पर्यत अग्नि को स्वीकार किया हुआ अग्निहोत्री पुरुष को इन सब कर्म तो करनी ही पड़ेगी चाहे और कुछ करो या न करो और कोई काम कर्म करे ना करे लेकिन इन कर्मों को नित्य उसको करना ही पड़ेगा इसलिए कहते इस जिस प्रकार से दर्श को विशेषण समझा पौर्णमा आदि शब्दों को भी उसी प्रकार से अग्निहोत्र में विशेषण रूप में स्वीकार करनी चाहिए अग्निहोत्र अंगत्व अविशिष्टता क्योंकि अंग्निहोत्र के अग्निहोत्र के प्रति अंगत्व भाव विशेषणत्व भाव उन सभी में समान रूप से है इसलिए पौर्णमास में पौर्णमास कर्म वर्जितम पौर्णमास कर्म से जो रहित है नीचे टिप्पण कर स्पष्ट कर रहे देखिए अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण इव इति ये क्यों कह रहे हैं दर्शाक्यम जो कर्म है वह समान कर्तकत्व देखो समान कर पूर्वोत्तर काल में एक कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कर्म है इसलिए बिना दर्शे का केवल अग्निहोत्र होता ही नहीं इन सब के साथ ही अग्निहोत्र को अग्निहोत्र माना जा सकता है इनमें से एक भी अभाव हो गया वह अग्निहोत्र के अग्निहोत्र नष्ट हो जाता है समान कर अग्निहोत्र संबंधी भवती अतो विशेषण तस्य परंपरा संबंधित इव कार्य भाव कि इसलिए परंपरा संबंध से वो भी संबंध कोटि में आ गया विशेषण कोटि में आ गया इसलिए भाष्यकार ने इव यह शब्द का प्रयोग किया है वृद्धास्त अग्नियोत संबंधी अपीति पाठम अकल्पयम और जो अन्य आचार्य लोग जो है अग्निहोत्र संबंधी अपी ऐसे पाठ कर देते हैं वहाँ अग्निहोत्र संबंधी अपी अग्निहोत्र विशेषण इव ऐसा पाठ वेद कर लिए हैं अपी का अनुसार सुविधा हो जाता है समझने में जैसे अग्निहोत्र संबंधी से अग्निहोत्र है ठीक उसी प्रकार से दर्श पूर्णमास भी वो अपी के बिना भी नहीं निकलती है इसलिए वृद्ध है मैंने अन्य आचार्यों ने इसकी व्याख्या करने वाले लोग अपी को जोड़ के व्याख्या किए हैं ऐसे भी जो है टिप्पण का स्पष्ट कर रहे हैं हाँ, अचात्रमास्यम चात्रमास्य कर्म वर्जितम चातुर्मास्य एक कर्म का नाम है ये ये नहीं है हम लोगों का जो सन्यासी में चात्रमास्य होता है इसको नहीं समझा चतुर्मास इसका नाम चातुर्मासी नहीं है चतुर्षु चतुर्षु मासेशु अंतरालेशु यह कर्म क्रियते सो चातुर्मासेष्टि ही जो चार चार महीने के अंतराल में किए जाने वाला यज्ञ है उसका नाम चातुर्मासिष्टि है मैंने एक याद तो इस पूर्णिमा में किया आपने तीन पूर्णिमा को छोड़ के चौथी पूर्णिमा में उस या, दूसरा याद कीजिए पहले का नाम वैष्णुदेव दूसरे का नाम वर्ण प्रकाश फिर तीन महीना छोड़े चौथे में जाओगे वहां पर करोगे साथ में फिर तीन महीने छोड़ोगे तो फिर वही पहले वाले जिसमें शुरू की थी वही पूर्णिमा आ जाएगी तो उसमें जो है सुनाश्री नाम की आख्या जाता है कुछ लोग कहते चौथे चौथे ले लो चतुर्थ चतुर्श तत्व से नहीं करना चतुर्श चतुर्श एवं कर देना विग्रह कैसे भेद कर लेते हैं लोग वहां क्या होगा फिर एक हुआ फिर दो छोड़ो इस पहले की सही गिनते हुए तो चौथा हो जाएगा बीच में दो पूर्णिमा छूटेगी चौथे हो गया फिर पांचवा छठा छोड़ो सातवें करो ठीक आठवें नवे छोड़ो दसवें में चार हो गए कि नहीं हो गया इस साल के चार हो गए फिर अगला समझ मतलब, ले फिर उसी पूर्णिमा में मिल गया ना हमें शुरू करने को एक साल पूरी होनी है एक साल की चार पूर्णिमा में करना है तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में दो पूर्णिमा को छोड़कर करेंगे तो पूरी पूरे दस पूर्णिमा पूरी हो जाए दसवीं पूर्णिमा में चौथी हो जाती है फिर बारहवीं पूर्णिमा फिर वही शुरू हो जाएगा दोबारा ये क्रम भी कुछ लोग उसका व्याख्या कर लेते हैं चाहे जैसा भी व्याख्या वाला हो लेकिन चातुर्मा श्रेष्ठी अन्य व्रता के समान चातुर्मास व्रत के समान नहीं समझ रहा ये गलत कर्मकांड है ये ग्रस्त जो सपत्रिक साग्निक जिसकी आहिताग्नि वाला पुरुष होता है अग्निहोत्री पुरुष होता है उसी को ही कर्म करने का अधिकार है सामान्य ग्रस्त को भी अधिकार नहीं है इसलिए कहते हैं चात अचात्र मास्यम अनाग्रहणम आग्रहणम अनाग्रहणम आग्रहणम शरदारी कर्तव्य शरद ऋतु शरद के अधिकार में और वसंत ऋतु के अधिकार में यही दो काल होते हैं जहाँ पर फसल को काटा हुआ होता है इधर शरद के आदि और वसंत ऋतु के अधिकार में होने वाला जो नवान्य है नव अन्न जो नया अन्न पैदा हुआ है तत् संबंधी जो इष्टि होता है उस नवान्य को यहाँ आग्रहण नाम से कहा जाता है तच्च न क्रिय उस कर्म को नहीं करता है जो ऐसे अग्निहोत्री का अग्निहोत्र व्यस्त जाता है तथा अतिथि वर्जितम अतिथि पूजनम च अहनि अहनि अक्रियमाणम यश अतिथि की पूजा प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो नहीं करता है वह व्यक्ति तथा अतिथि वर्जितम अतिथि भोजनम च अहनि अक्रियमाणम यश स्वयं सग्नि स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम और भाव से तो नहीं भाग्य सब कर भी लिया मान लो लेकिन स्वयं अग्निहोत्र को सम्यक काल में नहीं किया दशमलवास भी कर रहा है चतुर्मास भी कर दिया ग्रहण भी कर दिया तिथि भी पूजन भी कर लिया किंतु स्वयं का अग्निहोत्र को उसने सम्यक काल में नहीं किया बाकी बाहरी सब कर रहा है अन्यों के लिए जो करना है लेकिन स्वयं के काम को नहीं किया वो भी गलत है ऐसा कर्म ही मूर्ख ही कहा जाएगा तो दुनिया की सेवा में लगे हो और खुद की तो कुछ नहीं दे करे हो नहीं खुद भजन करो खुद को सुधरो खुद को संस्कार को सुधारना पड़ता है खुद के जो हर क्रियाकलाप को सम्यक समयों में करना चाहिए सम्यक देश में करनी चाहिए और उसके बाद जो अवशिष्ट समय है वो दुनिया की सेवा में लगाओ